बरे रायणी प्राण पियजी बार बे बुद्धि बखानी तहि समहितन मोर संसार बहे जात कय भयसी धारा निधि पूरब मनोरथ कारे करम तो हे चख पुतरिया बहुविधि चे रही आदर दे कोप भवन गए गवनी कह के कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है तो मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कई कई को भवन में चली गई पतिजुबर सारे तु भये कुमति कै कै केरी पाई कपट जलो अङ्कुर दो दल दुख फल परिणामा साजु सब सोये राजु करत निज कुमति रावुर नगर कोलाहल होये यह कुचार कछु जानन को विपत्ति कलह बीज है दासी वर्षा ऋतु है कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा कैकई कोप का सब सास सजा कर सज कर कोप भवन में जास हुई राज्य करते हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता प्रमोदित पुर नर नार सब सजहि सुमंगल चार एक सही एक निर्गमहि भीर भूप दरबार बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं कोई भीतर जाता है कोई बाहर निकलता है राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है बाल सखा सुनी हर साहे मिल दस पाँच राम पह जाही ही प्रेम पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी फिर भवन प्रिय आय सुपाय करत परस पर राम बड़ाई को रघुबीर सरिस संसार सिलुसने निबाह निहार श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं वे दस पाँच मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है जय जय जोनी करम बस भ्रमहे तह तह यह देवय सेवक हम स्वामी सियनाहु यह और निवाहु असय भासु नगर सब कहूँ कै कै सुता हृदय अतिदाहु को न कुसंगति पाए न साए रह नीच मत चतुराई भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म में वहाँ वहाँ उस उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती सांझ समय सानंद नृप गय के कई गे गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो